टीका में आत्मविद स्थित प्रज्ञ सर्वकर्म परित्याग अधिकार तब विपरीत आज्ञा से कर्म एक अर्थे सामान्य श्लोक अवतारे स्थित प्रज्ञा आत्मज्ञान का अधिकार सर्वकर्म परिचय सर्वकर्म क्या करके सर्वसमित उसके विपरीत जो अज्ञान है उसका अधिकार कर्म है इसमें सामान्य श्लोक आदि श्लोक अवतरण करते भगवान भाष्यकार योयम लौकिको वैदिक व्यवहार स उत्पन्न विवेक ज्ञान से जैसे पाठ स उत्पन्न विवेक ज्ञान से उत्पन्न विवेक ज्ञानम यश्य जिसका विवेक ज्ञान हो गया स्थित प्रज्ञ से अविद्या कार्य अविद्या निवृत्त निवर्तते ये सब तो लौकिक वैदिक व्यवहार अविद्या का कार्य तो आत्मज्ञान है गया चित प्रज्ञा उसकी अविद्या निवृत्त होगी अविद्या निवृत्त होने से अविद्या कार्य लौकिक वैदिक व्यवहार समस्त हो जाता है अविद्या से विद्या विरोधा तो निवृत्ति अविद्या की निवृत्ति ज्ञान से क्योंकि ज्ञान से विरोधी जैसे प्रकाश विरोधी अंधकार विद्या विरोधा अविद्या निवृत्ति एकम अर्थम स्फुटि कुरबना इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहते आत्मज्ञान होने से अविद्या की निवृत्ति अविद्या की निवृत्ति होने से अविद्या का व्यवहार लौकिक व्यवहार से वैदिक व्यवहार भी अविद्या से जब आत्मज्ञान हो जाता है तो अविद्या कार्य होने का अविद्या निवृत्त निवर्तते इसको कहते ज्ञान ठीक है अविद्या निवृत्त सर्वकर्म निवृत्ति चेत तब निवृत्त कथम अविद्या की निवृत्ति होने से सर्वकर्म निवृत्ति तो अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी एक आशंका है अविद्या विद्या विरोधात निवृत्ति विद्या की निवृत्ति होगी एकम अर्थम स्फुटिपूर्वन स्फुटिपूर्वन का अर्थ करते बाह्याभ्यंतर करना नाम पराग प्रत्येक प्रवृत्तिवत तथा विधि दर्शन से मुख्य विरुद्ध थे बाह्य अभ्यंतर करना बाह्य इंद्रिय बाहर प्रवृत्त होते हैं परात तो तो तो प्रत्येक प्रवृत्ति परात प्रवृत्ति यदि बाह्य प्रवृत्ति है तो अंदर प्रवृत्ति नहीं है विरोध है बाह्य करना और अंत करना जब बाह्य चिंतन करते बाह्य प्रवृत्त होते हैं तो प्रत्ययात्मा प्रवृत्ति नहीं होती ये विरोध है तथा हृदय दर्शन जब दर्शन ज्ञान हो जाता है तो मिथो विरुद्ध परस्पर विरुद्ध है ज्ञान होने के बाद अविद्या अविद्या को उधार नहीं हो पराग दर्शन से अनाद्य आत्मा आवरण अविद्या कार्य क्योंकि बाह्य विषय दर्शन चिंतन अनादि जो अविद्या है आत्मा का आवरण रूप अविद्या उसका कार्य है और आत्मदर्शन से तो निवर्तक होता आत्मज्ञान अविद्या का निवर्तक अविद्या की निवृत्ति होने से अविद्या के जो कार्य बाह्य दर्शन पराग दर्शन बाह्य करना अंतकरण के द्वारा बाह्य चिंतन वो नहीं होगा ततच आत्मदर्शनार्थम इंद्रिया इंद्रिया से हुए इसलिए आत्म साक्षात्कार के लिए इंद्रियों को विषय से निग्रह करे ये कहा गया है ये लेना तो हाँ, तो हाँ, तो आगे आएगा

यह सर्वभूता नाम निशा अस्याम संयम जागृति यश्याम भूतान जागृति सा पश्यतम निशा यह सर्वभूता नाम निशा निशा है रात्रि रात्रि में सब पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है अविवेक निशा है रात्रि यह सर्वभूता नाम सर्वभूत के निष्ठा सत्य से क्या है परमार्थ तत्व को जो नहीं जानते हैं सर्वभूत के लिए उसमें निशा जैसे सोए हुए सर्व निशा तस्याम निशायाम स्वयं जागर थी जो परमार्थ तत्व है स्वयं ज्ञानी उसको साक्षात्कार करने से उसमें जगा रहता है अन्य अज्ञानी लोग तो सोए हुए अज्ञान निद्रा में सोए हुए निशा है निशा जैसे परमार्थ तत्व के लिए उसमें संयमी जागृति उसके लिए वो प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है तो उसमें बैठता रहता है यश्याम जागृति भूतान और भूत जिसमें जागते हैं जागते हैं किसमें अज्ञान से जन्य संसार वस्तु में इसमें जागते जैसे वस्तु तो अज्ञान नहीं तरह से सोया हुआ है फिर भी सपने देखते जैसे जागते उनका लगता है सा पश्चिम मूल्य निशा ज्ञानी के लिए निशा के सदस्य आत्मस्वरूप में स्थित हो गया तो अविद्या कार्य जितने प्रपंच उसको देखता नहीं वो तो निशा के तुल्य है ज्ञान के लिए वो सारा संसार प्रपंच निशा रात्रि के जैसे भाषण या निशा निशागत रात्रि रात्रि का सर्व पदार्था नाम अविवेक कर सर्व पदार्थ अज्ञान करने वाला अविवेक करने वाले राशि अंधकार में तम स्वभाव सर्वेशा भूताना सर्वभूताना तम स्वभाव का निशा है निशा पाठ नहीं तम स्वभाव सर्वेशा भूताना उसका अर्थ सर्वभूताना सर्वभूत की रात्रि में सर्व पदार्थ में अविवेक क्योंकि अज्ञान स्वभाव है अंधकार स्वभाव है किन तत् वो तो क्या है चिकन जय सर्व प्राणी नाम मिश्रा पदार्थ अभिवेक करी मिश्रा रात्रि सर्व प्राणियों के अभिवेक करने वाले इसमें हेतु देते तमस स्वभाव अंधकार स्वभाव रात्र इसे सर्व पदार्थ का अभिवेक होता है वो कौन है क्या है जिसमें सब होता है निशा किन तक तो ठीक है सर्व प्राणी साधारणी प्रसिद्धि निशान दर्शिका कारण प्रकृत अनुगुण प्रश्न को विषय सर्व प्राणी के साधारण प्रसिद्ध है निशा रात्रि अंधकार स्वभाव सब पदार्थ का विवेक करने वाली इसको तो देखा है अभी निशा को यहाँ जो प्रकृति में दिखाना है प्रकृत अनुगुण लेना सब अनुगुण रूप से अनुगुण से प्रश्न प्रयोग स्पष्टीकरण करते किंत रात्रि किसने परमार्थ तत्व परमार्थ तत्व ही सार्वभूताना निशा क्योंकि उसमें अज्ञान है नहीं देखते जो कि स्थित प्रज्ञा से विषय स्थित प्रज्ञ ज्ञान का विषय है ठीक है स्थित प्रज्ञा विषय से परमार्थ तत्व से प्रकाश एक स्वभाव से कथम अज्ञान प्रति निशातम अज्ञान प्रतिम साधन अज्ञान द्वितीय बहुवचन अज्ञान द्वितीय बहुवचन अज्ञ अज्ञान अज्ञान प्रति द्वितीय बहुवचन अज्ञान प्रति अज्ञान के प्रति जो चित्त प्रज्ञा का विषय परमात्म तत्व वो तो प्रकाश एक स्वभाव स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप है कथम अज्ञान प्रति अज्ञान प्रति नहीं अज्ञान प्रति अज्ञान के प्रति निशा अज्ञानी के प्रति रात्रि कैसे इसे आशंका से कहते यथा यथा के पहले विराम है चित्त विषय यथा नक्तंचरा नाम अहर सद अन्य निशा होती तद्वत नक्तंचरा नाम चरण दिन होते उनके लिए रात्रि में दिन जैसे लगता है अन्य के लिए निशा होती तद्वत उसी प्रकार नक्तंचर स्थानीय नाम अज्ञानी नाम अज्ञानी हो गया नक्तंचर स्थानीय सर्वभूतानाम निशा हो उनके लिए निशा जैसे निशा निशा वास्तव में निशा ही हो निशा परमार्थ तत्व परमार्थ तत्व मकारी परमार्थ तत्व तत्व नहीं निशा है परमार्थ तत्व तत्व हेतु मार क्यों परमार्थ तत्व सबके लिए निशा है अगोचर आगे अगोचर परमार्थ तत्व अगोचर आदेश परमार्थ तत्व है परमार्थ तत्व आगे अगोचर असद बुद्धि नाम परमार्थ तत्वातिरेके देश प्रपंच प्रभुत्व बुद्धि नाम अप्रतिपन्न परमार्थ तत्व निश्चा अभिवेशन कर असद बुद्धि नाम जो ज्ञान तत्व बुद्धि परमार्थ बुद्धि नहीं परमार्थ तत्व अतिरेक देश प्रपंच परमार्थ तत्व से अतिरिक्त होता है देश प्रपंच उसमें तो प्रभुत्व बुद्धि नाम जो आत्म तत्व जिनकी बुद्धि नहीं देश प्रपंच बुद्धि प्रभुत्व बुद्धि नाम प्रभुता बुद्धि तो उनके लिए जब एक तो प्रपंच में बुद्धि की प्रवृत्ति होती है तो परमार्थ तत्व अप्रतिकम परमार्थ तत्व अज्ञात होने से निष्ठा ही हो अभिजुषान परमार्थ तत्व अज्ञान के लिए निष्ठा विषय हो उसका ज्ञान सत्यान जागर की में श्लोक है उसकी व्याख्या करते हैं में राष्ट्र में अतर बुद्धि नाम ऐसा पाठ बनाओ पहले निष्ठा परमार्थ तत्व आगे अगोचरत्व दत्त बुद्धि नाम अगोचरत्व दत्त बुद्धि नाम दत्त बुद्धि नाम से अगोचरत्व दत्त बुद्धि नाम ये पाठ करते सद बुद्धि नाम दिया अगोचरत्व दत्त बुद्धि नाम दुरा लिखना जो दो प्रकार वही प्रकार तो अगोचरत्व दत्त बुद्धि नाम असद बुद्धि नाम जो संसार विषय संसार विचिंतन करके देखते हैं परमात्मा तत्व तो जिनकी बुद्धि नहीं उनके निशा होगी तस्याम परमात्मा तत्व लक्षणायाम अज्ञान निद्रा तो प्रबुद्ध जागृति ज्ञानी पाठ अज्ञान निद्रा तो प्रबुद्ध अज्ञान निद्राया अज्ञान निद्राया ही बने अज्ञान निद्रा से अज्ञान निद्राया पंचमी को करेंगे अज्ञान निद्रायाम का उठी परमार्थ तत्व लक्षणायाम परमार्थ तत्व लक्षण जो है अज्ञान तो प्रभुत्व अज्ञान निद्रा से यज्ञा और परमार्थ तत्व लक्षण निशा में तस्याम जागृति संयम परमार्थ तत्व लक्षण आयाम निशाया अज्ञान के लिए निशा है अज्ञान निद्रा से जो यज्ञा उसे संयम जागृति जगकर संयवान जितेंद्रिय योगी वही जितेंद्र वही योगी जो संयम ज्ञान वो जगता रहता है ठीक है निष्ठावध उत्तायाम अवस्थाएं थी आवश्यक परमार्थ तत्व लक्षण को न निष्ठा जैसे कही गई अज्ञानी के लिए इसी अवस्था में ज्ञानी जानता रहता है योगी कौन योगी तो ज्ञानी सत्य योगी सत्य से ज्ञान द्वितीय अवतम द्वितीयार्थम विभजते यश्याम यश्याम ग्राह्य ग्राहक भेद लक्षणायाम अभिज्ञानितरायाम यश्याम जागृत बहुत जागृति भूटान जिसमें भूत व्यक्ति रहते किसी में जागते देश पट ग्राह्य ग्राहक वेद लक्षण है ग्राह्य विषय ग्राहक इंद्रिय जीव ग्राह्य ग्राहक इंद्रिय करण ये सब भेद है द्वैत प्रपंच अविद्या निचराया अविद्या अविद्या रूप निशाया प्रसुप्तान भूतानी अविद्या निद्रायाम पाठ है उसमें अविद्या निशायाम पाठ है निद्रा निशा समान है पाठ हुए थे अविद्या निशायाम अविद्या निशायाम प्रसुप्ता नहीं होता नहीं अविद्या निद्रा से सोए हुए भी जागृति सूचन कहते देश प्रपंच देखते हैं कहते जागते हैं यश्याम निशायाम प्रसुता है वो स्वप्न दिशा उसमें सोया हुआ ही स्वप्न दृष्टि देखे देखते ही सा निशा अविद्यारूपत्वा वो निशा है अविद्यारूपत्वा परमात्मा तत्व प्रसुतम होने ज्ञानी के लिए निशा है उसमें तो देखते ही अज्ञानी ये तो प्रपंच में किन्तु सा निशा क्योंकि अविद्यारूपत्वा किसके लिए परमात्मा तत्व प्रसुतम उन्हें ये परमार्थ तत्व को देखता है ज्ञानी उसके लिए तो ये देव प्रपंच अभिज्ञान निद्रा ही है कांसा तो वो नहीं देखता है अभिज्ञान रूप है ठीक है नहीं परमार्थ तत्व नहीं प्रसुप्ता नाम जागरण विरुद्ध जो सोए हुए अज्ञान निशा में अज्ञान निद्रा में सोए हुए तो जागृति भूटान कैसे कहा जागरण कैसे होगा तो जो पशु ही वो स्वप्न दिशा क्षय सपन जिससे को मानते हैं हम जागे व्यवहार तो करते इसी प्रकार परमार्थ तत्व अनुभव तो निवृता विद्या से संन्यासिनो द्वैतावस्था निशा इत्यत्र तुम्हारा जो परमार्थ तत्व का अनुभव करता है ज्ञान कौन होता है निवृता विद्या निवृता अविद्या से ज्ञान से अविद्या निवृत्त तो होगी ऐसे जो संन्यासी सब इसमें करके ज्ञान हो गया देव तो प्रपंच नहीं देखता है तो द्वैतावस्था निशा इसमें हेतु तो जत है क्योंकि अविद्यारों को प्राप्त आत्म तत्व साक्षात्कार से अविद्यानिवृत्त हो गया तो अविद्यारों को निशा भी उसके लिए नहीं रहा परमार्थ अवस्था निष्ठा हो अभिदुषान पाठ देखो परमार्थ अवस्था निश्चय व अभिदुषान निशा हो अभिदुषान अज्ञान के लिए निशा जैसे विदुषान तो अवस्था तो था अज्ञानी के लिए अवस्था निशा जैसे स्थित फलितमाह ऐसे उत्पन्न हुआ अतः कर्मा कर्माणी अविद्यावस्था में वो चोद्यंते न विद्यावस्था जो कर्म विहित है शास्त्र में वेद में और ज्ञान अवस्था में निदान किया गया ज्ञान होने के बाद विद्यावस्था नहीं पिता में अविद्यावस्था में वो क्रिया कारक फल भेद प्रतिभा अविद्यावस्था में ही क्रिया कारक फल विधान होता है आदि क्रिया मैं करता हूँ ये फल स्वर्ग आदि भोग करूंगा ये सब वेदभान भान होता है ज्ञान अवस्था सभी कर्म विधान है विद्योदय की तब प्रतिभाना विशेषात पूर्वमेव कर्माण विधेयन पूर्व किसी कहता है ज्ञान होने पर भी क्रिया कार्य का फल भेद तो दिखेगा ही तो दीक्षा समाधि करता है भेद तो दिखता है तो वो कर्माण विधेयन कर्म का विधान ज्ञान के लिए वो इस आशंका विद्यायाम की सत्याम उदित सभी सभी शारद और में होता तो मोह प्रणाश उपगछन अभिद्या ज्ञान होने पर जैसे उदित सवितरी सूर्य उदय होने पर सारवर में तम सार्वरियाम भव सार्वर रात्रि होने वाला अंधकार जैसे सूर्य उदय में तो नष्ट हो जाता है ठीक इसी प्रकार ज्ञान होने के बाद अविद्या प्रणाशम तो उपगछती नाश को प्राप्त कर लेता विद्या नष्ट हो जाती ज्ञान होने पर ठीक है अविद्या निवृत्त बाधितानुवृत्तिया विभाग वाहन यदि दीक्षात्मा भी करता है अविद्या की निवृत्त होने पर वो प्रारब्ध काल जब तक बाधित अनुभूति विभाग वाहन होता है विभाग से दिखता है उसको बाधित अनुभूति बाधित की अनुभूति बाधित हो गया काष्ठ से सर्प बना गया प्लास्टिक से सर्प बना गया पहले भय करता है बच्चा बाद, में निश्चित हो गया ये सर्प नहीं है तो फिर सर्प जैसे दिखता है तो बाधित हो गया बाधित की अनुभूति ऐसे तो बाधित अनुभूति होने पर उसका निश्चय है सर्प नहीं है खेलता है उसी इसी प्रकार ज्ञान के लिए बाधित अनुभूति विधान वाहन होने पर भी तो मिथ्या को निश्चय हो गया नास्तिक कर्म कर्म का विधान ज्ञान के नहीं क्योंकि विभाग अभिनय स्वभाव विभाग में अभिनय साग्रहण सत्य तो बुद्धि नहीं है मिथ्या निश्चय हो गया मिथ्या हो जाने से इसे बाधित अनुभूति होकर के भाव में होने पर भी उसमें सत्य तो बुद्धि नहीं होने से कर्म दुखी ज्ञान ज्ञान निकले नहीं अविद्यावस्था में वो कर्माणी ये तो उत्तम व्यक्ति करो कर्माणी ये अविद्यावस्था में ही कर्म है ये जो कहा गया उसकी स्पष्टीकरण है उसका राग राग विद्वेष अविद्या प्रमाण बुद्धिया गृहमाना क्रिया कार्य का सरल भेद रूपा सती सर्वकर्म उचितम प्रतिपद्य राग विद्योत्पत्ति ज्ञान उत्पत्ति के पहले अविद्या प्रमाण बुद्धिया गृहमान अविद्या का कार्य अविद्या से प्रमाण बुद्धि से ग्रहण होती ये सब क्या है कि अविद्या कैसे ग्रहण होती क्रिया कार्य का फल भेद रूपा क्रिया कार्य का फल भेद स्वरूप प्रमाण से ग्रहण होता है ये करता है स्नान करते हैं अज्ञान कारक तो है याद आदि कर्म है फल है स्वर्ग आदि देवता आदि संप्रदान है गृह आदि गिरता आदि कर्म का है इस विभिन्न प्रकार सबको प्रदान होता है सर्वकर्म हेतु कम प्रतिबद्ध थे ज्ञान होने के पहले सर्वकर्म का कर्म का हेतु क्या टीका विद्योदया पूर्व बाधक अभाव अबाधिता अविद्या अवग्रहण अबाधिता अविद्या क्रिया विभेदम आपद्य आपद्य प्रमाण रूपया बुद्धिग्राह्यता प्राप्त कर्म हेतु विद्योदया पूर्व ज्ञान होने के पहले अविद्या का बाधक ज्ञान और ज्ञानहीन का बाबत अविद्या ही अबाधिता अविद्या अविद्या अबाधित होकर के तो अविद्या कैसे रहे क्रियादि भेदम आसर्ज्य क्रिया कार्य का फल भेद को प्राप्त करके प्रमाण रूप विद्या ग्राह्यता प्राप्त प्रमाण रूप बुद्धि से ग्राह्य होता है होती अभिद्या क्रिया का फल भेद को प्राप्त करके बुद्धि का ग्राह्य विषय होता है कर्म हेतु भगवती और यह अभिद्या क्रिया का फल भेद रूप से कर्म का हेतु होते क्रिया भेदाभिमान से तद हेतु क्रियादि भेद में अभिमान अविद्या है क्रिया कार्य का फल भेद ज्ञानी में हो तो भी उसमें अभिमान नहीं सत्यत्व बुद्धि नहीं किन्तु अविद्या है तो क्रियादि भेद में सत्यत्व अभिमान है तद हेतु तद हेतुकत्वात अविद्या हेतुकत्वात हेतु जैसे अविद्या हेतु के अविद्या होने से ही क्रियादि भेद में सत्यत्व बुद्धि अभिमान है ज्ञान होने पर नहीं कर्म कर्म नहीं न विद्यावस्था नितुक्तम प्रपंच विद्यावस्था में कर्म बुद्धि नहीं है ना प्रमाण बुद्धिया गृहमाणाया कर्म हेतु तो उपपति जब अविद्या अप्रमाण बुद्धिया गृहमाण होती ज्ञान होने पर अविद्या की निवृत्ति होगी बाधित अनुभूतिया भेद क्रिया कार्य फल वेद भान हो तो बाधित अनुभूतिया उसमें प्रमाण बुद्धि नहीं अप्रमाण बुद्धिया गृहमाण होती मिथ्या तो निश्चय हो गया अप्रमाण बुद्धिया गृहमाण अविद्या क्रिया कार्य फल भेद करके ज्ञान नाम होने पर पर अविद्या न कर्म हेतु प्रत्यक्ष में और कर्म हेतु अविद्या नहीं है उत्पन्नायाम च विद्यायाम ठीक है अविद्या निवृत्त तो ज्ञान होने पर अविद्या निवृत्त होगी तो अविद्या निवृत्त होने से क्रिया विभेद भानम अप्रमाणम बुद्धि पद्धति क्रिया कारक फल भेद भान जो होता है यह अप्रमाणम से बुद्धि हो जाती है निश्चय हो गया कि मित्र गलत है मिथ्या दिखता केवल नहीं है मरुभूमि में जल जैसे दिखता है किन्तु सबको जिसको मालूम हो गया तो जानता है जल नहीं ऐसे दिखता है गृहमाना और बुद्धि के द्वारा ग्रहण होते अप्रमाण बुद्धि से ग्रहण होते अभी देगा कार्य क्रिया कार्य का फल यथोत विभाग भागिनी अति अविद्या ऐसे भेद को विषय करने वाले होने पर भी क्रियाकार का फल भेद दान होने पर भी अपराधान बुद्धिया ग्रहण पर वो अभिज्ञा न कर्म हेतु तुम प्रतिबद्ध थे कर्म हेतु को प्राप्त हेतु को प्राप्त नहीं करती कर्म हेतु नहीं होते अभिज्ञा क्योंकि बाधित आघात तब हेतु नहीं बात बाधित हो जाने से जो नहीं होने पर दिखता है उसको आभास करते बाधित हो गया मरुम जल ज्ञान होने पर बाधित हो गया जल नहीं फिर जल जिसे लगता है होने पर जिस प्रकार वो बाधित होने पर जलाभास हेतु नहीं प्रवृत्ति का हेतु नहीं होता है जो समझ लेता है जरूर नहीं इसी प्रकार अविद्या बाधित होने से क्रिया कार्य का फल भेद भान होने पर भी बाधित होने से आभास आभास होने से कर्म हेतु तो प्राप्त नहीं करेगा तद हेतु तो ही बात कर्म हेतु तो ही बात विद्या विद्या विभाग में उत्तम एवं विशेषम विभ्रमती विद्या और अविद्या विभाग करके जो कहा गया विशेष उसका विवरण स्पष्टीकरण करते प्रमाण भूतेन वेदेन मम चोरित कर्तव्य कर्म इति ही कर्मणि कर्ता प्रवर्तते कैसे कर्म में प्रवृत्त होता है वेद प्रमाण है प्रमाणभूतन वेदेना मम चोरित कर्तव्य कर्म भीत है कर्म मेरा कर्तव्य इति ही न नहीं चाहिए इति ही कर्मणि कर्ता प्रवर्तते इस प्रकार होकर के ही कर्म में कर्ता प्रवृत्त होता है और जब निश्चय हो जाता है मात्र निधन सर्वम तब वक्त उत्तर होता है न मात्र निधन सर्वम निश्चय हुई थी ये सब कुछ मात्र निशा जैसे मिथ्या है ऐसा अनुभव कर्म है प्रवृत्त नहीं होता ठीक है यशोत्तर में दे देना जो प्रमाण होता दे दे कामना जीवनादि मतो मम कर्म विहितम काम्य कर्म का विधान होता है जिसकी कामना है यजे तो सर्व काम सर्व की इच्छा है तो सर्व काम व्यक्ति याद करे और नित्य कर्म के लिए कामना भी नहीं है यावत जीवन अग्निहोत्र जो भी जीवित जीवन है तो कर्म करना पड़ेगा नित्य कर्म कामना जीवन आदि मत मतलब। काम्य कर्म के लिए कामना नित्य कर्म के लिए जीवन और नैमित्तिक कर्म के नित्य निमित निमित्त होने से नैमित्य कर्म आदि मत मतलब सूर्य सूर्य ग्रहण आदि निमित्त में कुछ कर्म कहा गया चुप्त होने पर कुछ कर्म कहा गया ये सब निमित्त होने से निमित्त कर्म ऐसा मम कर्म विहितम ऐसा मानता ज्ञान तेन मेरा तत्कर्तव्य मुझे करना है इसे मानते हुए कर्म में अज्ञो अधिकृत है कर्म में अज्ञान अधिकार है तम प्रति साधन विशेषवाद में वेद से प्रवर्तक क्या ज्ञान के प्रति वेद प्रवर्तक है क्योंकि साधन विशेषवादी है वेद विशेष साधन कथन करने वाले जो कल चाहता उसका साधन बता देता है वेद सर्वेदम अभिजामात्र द्वैतम निषेव जिसे तालब से चाहिए द्वैत प्रपंच अभिजाम निष्ठाइव निष्ठाइव इति निश्चय पाठ निश्चय रेति एक अधिक है निश्चय रेति मनमानस्तु ऐसा जो मानता है न प्रवर्तित कर्म कर्म का उत्तर नहीं होता है अभिज्ञान अपनिश्चित होने पर देखिए व्यावृत्य भाव उससे जिसकी व्यावृत्ति होती निवृत्ति होती वो तो कहते न अभिज्ञा मात्र ऐसा जो ज्ञान मिलता है अभिज्ञा मात्र निगम सर्वम ऐसा ज्ञान पर कर्म के उत्तर नहीं मिलता है विदुषो न कर्म अधिकार सबसे अधिकार स्तरी कुत्र आशंका जिसको ज्ञान हो गया वो विद्वान विदुष विद्वान का ज्ञानी का कर्म अधिकारी सब अधिकार मात्र द्वित निश्चय हो गया था कर्म उसके लिए नहीं उसका कर्म में अधिकार नहीं तो फिर तब से अधिकार कुत्र कहाँ अधिकार है ऐसा संक्रांत से कहता है भाष्य में यश पुनर् तू नहीं यश पुनर् निश्चय मात्र इधम सर्वम भेद जातम इत ज्ञान भेद जातम इति इधम नहीं इति ज्ञान यश पुनर् निश्चय मात्र अभिधानात्र जैसे रात्रि है ऐसे सब कुछ अविद्या मात्र जितने एकदम सर्वम भेद जातम जितने भेद वर्ग सब है सर्व निष्ठा है अविद्या मात्र अज्ञान है इत ज्ञान ऐसा जिसका ज्ञान हो गया ज्ञानी के लिए तस्य आत्मज्ञान से आत्मज्ञान सर्वकर्म संन्यास अधिकार हो न प्रवृत्त जब इसका निश्चित हो गया सारे भेद वर्ग मिथ्या है अविद्या मात्र ऐसा आत्मज्ञानी के लिए सर्वेशा कर्मणाम संन्यास अधिकार कर्म उसके साधन और कर्म फल की इच्छा सबका त्याग न प्रभु तो कर्म प्रभु में दिखा नहीं टीका नहीं तस्य आत्मज्ञ से फलभूत संन्यास अधिकारी वाक्य से संप्रमाणिक जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो तो फलभूत संन्यास जो आत्मज्ञान की इच्छा है तो विधि का संन्यास और आत्मज्ञान हो गया तो फलभूत संन्यास विद्वत संन्यास है स्वरूप केवल स्वरूप कर्म रखना त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित वाक्य से प्रमाण बताते तथा च दर्शई सती तथा चौथे तथा च दर्शई सती दिखाएंगे आगे तद बुद्ध तदात्मान स्तनिष्ठा तत्परायण के आगे बताएंगे बस उसमें स्थिति तत्पर गई और कुछ ज्ञान का कर्तव्य नहीं ज्ञान निष्ठा है तस् अधिकार ज्ञान की ज्ञान निष्ठा में अधिकार जैसे स्वरूप में स्थिति और कुछ नहीं करने प्रवर्तकम प्रमाणम विधि तद अभावे कर्म शिव विदुषो ज्ञान निष्ठायाम अभी प्रभुकरण उपपत्ते आश्रय ज्ञान वस्तु विधि रीति संकते अभी कहते प्रवर्तक प्रमाण होता है विधि विधि वाक्य है वेद वाक्य प्रमाण है जो प्रवर्तक हो उसको विधि कहेंगे तद अभावित जैसे विधि नहीं होने से कर्म में ज्ञानी प्रवृत्ति नहीं होता है कर्म से वो विदेश ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्ति अनुपते तो फिर ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्ति नहीं होगी क्योंकि विधि नहीं कर्म में जैसे विधि नहीं ज्ञान करे जैसे ज्ञान निष्ठा में विधि नहीं विधि नहीं होने से प्रवृत्ति नहीं होगी आश्रय तो विधि इसलिए ज्ञानी के लिए भी विधि माननी चाहिए पूर्व सीखा था विधि मानेंगे तो कर्म करे यह अभिप्राय उसका शंका करता है तत्रापि प्रवर्तक प्रमाणाभावे प्रमुख तो पुत्री चेत यदि कर्म में प्रवर्तक प्रमाण विद्य में उनसे प्रवृत्ति नहीं है ज्ञान की तो ज्ञान अनुष्ठान में प्रवृत्ति क्यों होगी वहां भी तो प्रवर्तक प्रमाण नहीं उसके लिए सब मिथ्या है तो वेद भी नहीं है परमार्थिक तो प्रमाण तो प्रवृत्ति नहीं होगी इसी चेत यहाँ तो शंका है सिद्धांत तो देगा ना ठीक है किम आत्मज्ञान विधि में अपेक्षा थे किम आत्मा सिद्धांत पूछता है कि आत्मज्ञान बुद्धि की अपेक्षा करता है अथवा आत्मा विधि की अपेक्षा करेगा नाद्य आत्मज्ञान विधि की अपेक्षा नहीं करेगा तस्य स्वरूप विशेष यथा प्रमाण प्रमेयम उत्पत्ति विधि अनपेक्षा आत्मज्ञान कैसा है स्वरूपम विषय यश स्वस्वरूप आत्मस्वरूप को ही विषय करता आत्मज्ञान जो ज्ञान है वो बुद्धि की अपेक्षा नहीं करता है यथा प्रमाण प्रमेयम उत्पत्ति यदि प्रमाण है वस्तु है तो ज्ञान हो जाएगा ज्ञान होता है वस्तुतंत्र अर्थात तंत्र कर्तृतंत्र नहीं कर्तृतंत्र उपासन यदि वस्तु है दुर्गंध सुगंध है और प्रमाण इंद्रिय संबंध हो गया तो ग्रहण होता ही है इच्छा नहीं करने पर ग्रहण करना पड़ता है प्रमाण प्रमेय के अनुसार ही ज्ञान हो जाएगा और जो कर्तृतंत्र होता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम तकमति पुरुष जहाँ वो पुरुष तंत्र है इच्छा करने पर कर सकता है क्रिया में नहीं कर सकता है अन्यथा कर सकता है ये पुरुष तंत्र उपासना ज्ञान में होगा किन्तु ज्ञान में लौकिक ज्ञान में भी संभव है हम चाहेंगे गंध ग्रहण नहीं करेंगे तो नहीं यदि रानी देव के साथ संबंध हो गया तो गंध ग्रहण करना पड़ेगा और कोई गंध को सुगंध ग्रहण मान लिया ऐसा नहीं हो सकता है कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम न सकते पुरुष इसलिए वहाँ प्रमाण प्रमेय के अनुसार ही उत्पत्ति होती है वहाँ विधि का पीछा नहीं विधि के बिना भी यदि इंद्रिय के साथ संबंध हो गया और कम है तो ज्ञान हो ही जाएगा न आत्म विषय तो आत्म विज्ञान है उसमें विधि की आवश्यकता नहीं पूर्व किसी कहता है विधि नहीं तो ज्ञान नहीं करेगा पूर्व किसी ने कहा ज्ञानी ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्ता नहीं होगा विधि के ज्ञान कहते आत्मज्ञान के विधि की आवश्यकता नहीं कि तो उसका स्वरूप विषय के आत्मज्ञान उसमें हम विधि की आवश्यकता नहीं तो वहाँ विधि के लिए आत्मा के लिए विधि का विषय वो भी नहीं न द्वितीय का नहीं आत्मन स्वात्मनि प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षता आत्मत्वादेव तदंतत्वाच सर्व प्रमाण नाम प्रमाण से आत्मा ही कोई आत्मा के लिए कोई विधि की आवश्यकता नहीं स्वात्मन प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षा था अपनयन में प्रवर्तक प्रमाण की अपेक्षा आत्मा में प्रवर्तक प्रमाण की अपेक्षा करेगा स्वयं ऐसा नहीं क्योंकि तो अपना स्वरूप है उसमें प्रवृत्त होने के कोई प्रमाण की विधि की आवश्यकता नहीं तदंत तो सर्व प्रमाण नाम प्रमाणत्व जितने प्रमाण में प्रमाणत्व है तो तब तक जब आत्म स्थित नहीं आत्मा में स्थित होने पर आगे कोई प्रमाण में प्रमाणत्व भी नहीं है कोई प्रमाण ही नहीं आत्मस्वरूप स्थित होने पर उसके लिए किसी में भी विधि की आवश्यकता नहीं कोई कोई जरूरत नहीं स्वरूप स्थिति किसी की अपेक्षा नहीं किसी अपेक्षा करेंगे स्वरूप स्थित नहीं और ज्ञान अवस्था में बाह्य वस्तु बहुत दिखने पर उनकी निवृत्ति करके स्वरूप स्थिति के लिए विधान किया जाता है और साक्षात्कार हो गया स्वरूप स्थिति के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं बल्कि अन्य प्रमाण प्रमाणत्व भी समाप्त हो जाता है ठीक है प्रवर्तक प्रमाण शब्द विधेय प्रवर्तक प्रमाण क्या विधि विदित साध्य विषय साध्य सर्गादि विषय के विधि यदि तो सर्वकाम सर्व चाहते तो याद कर या साध्य विषय की आत्मा तो साध्य में नित्य है असाध्य तो आत्मस्वरूप नित्य स्वरूप उसके लिए विधि की आवश्यकता नहीं तो है तो मैं आत्मता हो तो आत्मस्वरूप साध्य नहीं आत्म तद ज्ञान और विद्या अपेक्षा भी अभी आत्मा के लिए विधि का पीछा नहीं आत्मज्ञान के लिए विधि अपेक्षा नहीं आत्मा तो स्वरूप है नित्य सिद्ध है साध्य नहीं और आत्मज्ञान भी प्रमाण और प्रमेय तंत्र है वस्तु तंत्र है कर्तृतंत्र नहीं तो विधि का पीछा नहीं तो ज्ञानी ने मानवमय व्यवहार प्रति नियमार्थम विधि अपेक्षा अभी शंका करते ज्ञानी के लिए आत्मा के लिए विधि नहीं आत्मज्ञान के लिए विधि नहीं होने पर भी मानमेय जैसे मानमेय व्यवहार प्रति प्रमाण प्रमेय व्यवहार करने के लिए नियम करने के लिए विधि का पीछा हो ऐसा संक्रमण से करते नहीं ज्ञान होने का तो प्रमाण प्रमेय व्यवहार कुछ नहीं तदंत प्रमाणान सर्व प्रमाणान प्रमाण करते सब प्रमाण में प्रमाण तो तब तक है ज्ञान नहीं हुआ ज्ञान हो जाने पर प्रमाण में प्रमाण तो नहीं रहा प्रमाण प्रमाण तो व्यवहार ज्ञान के लाभ नहीं करता नहीं सर्वेशा प्रमाणान प्रामाण्य से आत्मज्ञान उदय अवसान तो आज जितने प्रमाण में प्रामाण्य है तो है आत्मज्ञान उत्पत्ति होने तक आत्मज्ञान उदय से समाप्त हो जाए अवसान समाप्त हो जाता है तस्वीर उत्पन्न आत्मज्ञान भी उत्पन्न हो गया व्यवहार से निरवकाश व्यवहार को कोई अवकाश नहीं व्यवहार की आवश्यकता नहीं अवकाश ही नहीं व्यवहार नहीं करता है न तत्प्रति नियम आया ज्ञान नदी और व्यवहार के लिए नियम करने के लिए ज्ञान के विधि और वो नहीं यदि कहीं व्यवहार दिखता है और ज्ञान के दृष्टि से व्यवहार है वस्तुतः तो ज्ञानी अपने स्वरूप व्यापक चिद रूप निष्क्रिय अपने को मानता है उसे न व्यवहार हो नहीं सकता है न कुछ करता है उत्तम वो व्यक्ति का निष्पत्ति कम करते नहीं वास्तव में नहीं आत्मस्वरूप अधिगम सभी आत्मस्वरूप का अधिगम साक्षात्कार होने पर पुनः तो प्रमाण प्रमय व्यवहार संभव उसके बाद फिर प्रमाण प्रमय व्यवहार ज्ञान क्या नहीं होता है ठीक है सर्वाधिगमवद आत्माधिगम की किमित अर्थ व्यवहार न भवती धर्माधिगम धर्म कर्म कांड से धर्म का ज्ञान होता है याग आदि का ज्ञान और सर्व साधन ज्ञान होने के बाद तो फिर व्यवहार होता है अनुष्ठान आदि होता है जैसे धर्म वैदिक है उसके ज्ञान होने पर भी व्यवहार होता है ऐसे आत्माधिगम होने पर भी वेदांत प्रमाण से क्यों व्यवहार प्रमाण तो व्यवहार क्यों नहीं होगा जब धर्म वैदिक है उसके ज्ञान होने पर प्रमाण समय व्यवहार होता है तो वैदिक वेदांत वाक्य से आत्मज्ञान होने पर फिर व्यवहार क्यों नहीं होगा इसका संक्रांति करते भाष्य में प्रमातृत्व ही आत्मनो निवर्तयती अंत्यम निवर्त अंत्यम प्रमाणम पाठ देखो प्रमातृत्व ही प्रमातृत्व ही आत्मनो निवर्त निवर्तयती अंत्यम प्रमाणम ऐसा पाठ निवर्त्य निवर्तयती अंत्यम प्रमाण निवर्तय अगर अंतम जो है नित्यम बना अं अं अं न तो यताओं को कट करे लेकिन नित्य निवर्तयती अंत्यम प्रमाणम निवर्तयती अगर अंत्यम यम हो गया निवर्तय अंत्यम प्रमाणम आत्मा ने जो प्रमाण तृप्त वो अंत्य प्रमाण उसको नहीं कर देता है वेदांत प्रमाण ठीक है तनिवृत्त तो कथम अद्वैत ज्ञान से प्रामाण्य यदि प्रमाण में निवृत्त हो जाएगा तो अद्वैत ज्ञान कैसे प्रमाण होगा इसे आशंका से कहते निवृत्त अप्रमाण भवती स्वप्न काल प्रमाण प्रबोध निवृत्त निवृत्त करते हुए अप्रमाण हो जाता है वेदांत प्रमाण अं- प्रमाण निवृत्त कर देता है ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हो गया स्वयं अप्रमाण हो जाता है स्वप्न काल प्रमाण में प्रबोध स्वप्न काल में कोई प्रमाण था जागने पर तो प्रमाण आता है नष्ट हो गया यहाँ विराम तो प्रबोध के आगे स्वप्न काल प्रमाण में वो प्रबोध है प्रमातृत्व निवर्त अद्वैत ज्ञान स्वयं निवृत्ते न प्रमाणित तो दृष्टान्त माँ यहाँ प्रमातृत्व छुट गया निवर्त विराम आगे प्रमातृत्व लिखना प्रमातृत्व निवर्त है अद्वैत ज्ञान अद्वैत ज्ञान अपने प्रमातृत्व का निवर्तन कर देता है प्रमातृत्व निवर्त स्वयं निवृत्त स्वयं भी अद्वैत ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति नष्ट हो जाती है न प्रमाणन तो, प्रमाण कुछ रहा नहीं ऐसे दृष्टान्त देते स्वप्न काल प्रमाण या प्रबोधि स्वप्न काल प्रमाण जिस जगने पर अप्रमाण हो जाता है आत्मज्ञान से विज्ञान अपेक्षा से करना आत्मज्ञान बुद्धि की अपेक्षा नहीं करता है उसके लिए दूसरा हेतु कहते लोके च वस्तु अधिगमे प्रवृत्ति हेतुत्वादर्शनाथ प्रमाण से लोक में भी वस्तु के ज्ञान होने पर प्रमाण से प्रवृत्ति हेतु तो अदर्शनाथ प्रवृत्ति हेतु नहीं होता है जो तो वस्तु ज्ञान नहीं है तब तो ज्ञान से प्रवृत्ति होती वस्तु अधिक में नहीं होता है प्रवृत्ति तो चौदस मात्र प्रमाण से कैसे टीका में देखो व्यवहार भूमि भी प्रमाण से वस्तु निश्चय फल पर्यत प्रमाण का क्या प्रयोजन प्रमाण से प्रणा हुई प्रमाकरण प्रमाण प्रमाण का फल है प्रणा तो वस्तु निश्चय ही उसका फल है प्रमाण से वस्तु निश्चय फल पर्यत प्रमाण करते वस्तु निश्चय होने तक वस्तु निश्चय फल है तब तक प्रमाण यदि से वस्तु हो गया प्रवर्तक विधि सापेक्ष तो और प्रमाण प्रवर्तक विधि सापेक्ष और कुछ प्रवर्तन प्रमाण की प्रवर्तन नहीं होती वस्तु निश्चय हो गया प्रवर्तक विधि सापेक्ष उपलम्ब नहीं होता है अद्वैत ज्ञान होती प्रमाणत्वान न विधि अपेक्षते रज्वादि ज्ञान अद्वैत ज्ञान भी प्रमाणत्वान तो कर प्रमाणत्वान न विधि अपेक्षते रज्जु आदि ज्ञान जिस प्रकार प्रमाण है विधि का पीछा नहीं है अत्यधि ज्ञान भी प्रमाण होने से विधि का पीछा नहीं है रज्जु विज्ञान ज्ञान होने ज्ञान हो गया आत्मज्ञान बत तनिष्ठया तनिष्ठाया विधि मंत्र में ज्ञान आत्मनिव सिद्ध आत्मज्ञान बतस तनिष्ठाया या बनाओ आत्मज्ञान सनिष्ठाया ज्ञान निष्ठा विधि मंत्रण ज्ञान महात्म सिद्ध का ज्ञानी के लिए ज्ञान निष्ठा ज्ञानी के सामर्थ्य से सिद्ध है और विधि की आवश्यकता नहीं आत्मज्ञान बता मतलब ज्ञानी न ज्ञानी की तनिष्ठाया सत्यंत तनिष्ठाया सिद्धत्व आत्मनिष्ठा सिद्ध है कैसे सिद्ध है ज्ञान महात्मा ज्ञान के सामर्थ्य से विधि मंत्र विधि के बिना विधि के बिना ही ज्ञान की आत्मनिष्ठा सिद्ध है तत्व कर्म संन्यास अधिकार न कर्म हेतु उपसमति आत्मनिष्ठा ज्ञान ब्रह्म स्वरूप में स्थिति के लिए कोई विधि का आवश्यकता नहीं तो ज्ञान आत्म से सिद्ध है स्वरूप कही तो रहेगा उससे अतिरिक्त कुछ विषय नहीं कहीं चिंता न करने के लिए सब मिथ्या सिद्ध हो जाने पर स्वरूप तो सिद्धि स्वभावत तो है कर्म त्याग अधिकार न कर्म ही ज्ञान का इसे प्रसारण करते तस्मात भाष्य में तस्माद न आत्मविद कर्म में अधिकार है सिद्धम आत्मज्ञानी का कर्म में अधिकार नहीं है ये निश्चित हुआ श्लोक बोलो यमी यूतानि सर्वो मुने विद्यावता विद्याफल से मुख्य से लब्धुम सत्य किमित विद्युषर संन्यास नियमित असन्यासिनापि जो सन्यासी नहीं विद्यावता तृतीयांत अंतर नहीं चाहिए ज्ञानी के द्वारा यदि संन्यास नहीं होने पर भी ज्ञान हो गया विद्या फल से मुख्य से लब्धुम सके ज्ञान का फल मुख्य प्राप्त कर सकता है किन्तु तो विदुषा संन्यास नियम से तो विद्वान के लिए संन्यास के नियम करते इस शंकांत से तत्र कहते भाष्य में विदुष प्रत्येक समस्या स्थित प्रज्ञ से यथेरव मोक्ष प्राप्ति न तो संन्यासी न काम कामी नम अर्थम दृष्टान्त न आह ज्ञानी विदुष त्यक्त समस्या त्यक्ता ये न सत्यक्ति सना लोकेशना उपदेशना विशेषना का त्याग कर दिया तो ऐसे ज्ञान के यही स्थित प्रज्ञ होता है इतना त्याग करने पर यही चीज दर्शन करने वाली है फिर वो मुख्य प्राप्ति उसकी मुख्य प्राप्ति न तो संन्यासी न काम कामी न असन्यासी ना न का संन्यास नहीं क्या काम कामी न काम्यंत काम तो भोग विषय वो चाहने वाला जिसका स्वभाव जो व्यसना है वासना है ऐसे सन्यासी नहीं है उसके लिए मुख्य प्राप्त नहीं ऐसा त्याग मुख्य है संन्यास इस अर्थ को दृष्टान्त के द्वारा प्रतिपादन आगे प्रतिपादन करते कहते टीका में आपात ज्ञानवत विवेक वैराग्य आदि विशिष्ट ऐसाभ्य सर्वाभ्यो अभ्युत्थित श्रवणादि द्वारा समुत्पन्न साक्षात्कार हो मुख्य से संन्यासी न मुख्य देखो आपात ज्ञान होता पहले शास्त्र श्रवण करने से विचार के बिना ज्ञान होता है आपात ज्ञान विचार रहित तो ज्ञान उससे क्या होगा इतने जन्य ज्ञान हमसे विवेक आत्मात्म विवेक होगा विवेक होने से सांसारिक प्रकार पदार्थ सर्वत्र भव्य से यह लोग पर लोग भोग रहित वैराग्य होगा वैराग्य आदि आदि से समाधि सत्संग के मुख्य ऐसे साधन चतुष्ट होने पर ऐसनाभ्यो सर्गाभ्यो से सब इच्छा का त्याग करेगा इच्छा से विचित होने से से उसके बाद यशना त्याग करने पर श्रवण मनन निधिध्यासन लगातार कर सकता है फल पर्यंत नहीं तो फल पर्यंत नहीं होता तो श्रवणादि द्वारा समुत्पन्न साक्षात्कार होता जब साक्षात्कार उत्पन्न हुआ इसे ज्ञानी का यही मुख्य से सन्यासी न हाँ, वही मुख्य सन्यासी ज्ञान हो गया कृष्णा त्याग कर दिया ज्ञान हो गया मुख्य सन्यासी नान्य से विशेष कृष्णा परिभूत से दूसरे की जो कृष्णा उसे परिभूत है उसको मुख्य नहीं मिलेगा इसे सब दृष्टान्त न प्रतिपा तुम इच्छा प्रतिपादन करने की इच्छा करते हुए राग देश विलते श्लोक उत्तम वर्तम राग देश विलते विषा निंद जो कहा था उसी को ही पुनराह कहते श्लोक आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रनाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायम् प्रविशन्ति सर्वे प्रशान्तिमाप्नोति न कामकामि आवोयमाकामजलप्रतिष्ठम् समुद्रमावाप्रविशन्ति